જ્યાં लगी आत्म तत्व चीन्यो नहीं ત્યાં लगी साधना सर्व झूठी नरसिंह मेहता ने कहा तो कैसी भी दुनिया भर की साधना कर ले आर्किटेक्ट बन जा खूब कर खूब पैसा कमा और पैसे से शरीर को सुविधा दे अंत में शरीर आंख में मिल गया झूठ हो गया तो इंजीनियर बन जा डॉक्टर बन जा वकील बन जा सेठ बन जा उद्योगपति बन जा करो ठीक है मना नहीं लेकिन इन साधना से तेरा पूरा गुजारा होने वाला नहीं वो तो शरीर का गुजारा होगा तेरा गुजारा तो आत्म तत्व की साधना से होगा तेरा मंगल कल्याण शरीर की सुविधा इन चीजों से हो जाएगी लेकिन शरीर की सुविधा कितनी भी हो जाए एक दिन जला दिया जाएगा दफना दिया जाएगा कीड़े बन जाएंगे बैक्टीरिया बन जाएंगे बिच्छू बन जाएंगे सड़ा गला मांस बन जाएगा कबर में शमशान में जला दो तो राख बन जाएगा तो तू राख होने वाला के सड़ा गला मांस होने वाला नहीं है तो इन सब से पार होने वाला है तो अपने लिए आत्म तत्व की साधना कर शरीर के लिए तो बहुत मजूरी की जहाँ लगी आत्म तत्व चीनियो नहीं त्या लगी साधना सर्व झूठी भूत को बुला भैरव को बुला वैताल को जिन्नाद को साध ले सब झूठी साधना अंत में उसका फल झूठ थोड़ी देर के लिए दिख जाए जैसे सपने में थोड़ी देर के लिए लड्डू दिख गए तो क्या और राजा ही ठाठ दिख गया तो क्या डॉक्टर राधा कृष्ण ने लिखा कि एक बठियारा था उसको अपने ग्रह जीवन से संतोष नहीं था वो रात्रि को सोता और उसको स्वप्न आता मैं बड़ा राजा हो गया हूँ बड़ा राज ठाठ है दिन भर तो वो बठियारा बट्ठी तपाता बेचारा ईंटे सेकता ओ गठियारे ने सपना देखा एक दिन मैं राजा हूँ शाही ठाट में और वो प्यारा सपना रोज रोज देखने के लिए जल्दी सो जाता और कई बार उसको ऐसे ही सपना आता तो उसको पक्का हो गया कि वही सुख है वही मैं राजा हूँ यहाँ खाम का मेहनत करता हूँ रात कब हो और मैं राजा कब बनू <laughs> सीधा सो जाए जैसा चिंतन करो छाती पे हाथ रखे तो करीब करीब ऐसे ही बेचारा स्वप्न आता है तो एक रात्रि को वो स्वप्न आया शाही ठाट में राजा जी अन्नदाता महाराज घनी खम्मा गौ ब्राह्मण परिवार छन छनन छन छन छन छन छनन छन चूड़ियों की आवाज ललनाओं के नृत्य और चमर डुलाने के अहोभाव से अभिवादन करने के दृश्यों में इतना मशगूल था फिर सपने सपने में उसको पेशाब जाना था लेकिन वो अपना राजपाट छोड़ के नहीं जाना चाहता था राजवी ठाक में जाना चाहता था तो बंद आके स्वप्न में बाथरूम के तरफ गया वो बठियारे का कहीं अंगारा पड़ा था बंद आंखें आके सब बाथरूम में जाए इतने में पैर में अंगारा लगा आंख खुल गई सिर कूटने लगा के हाय रे हाय इस अंगारे ने मेरा राजपाट छीन लिया रे कहाँ गई वो ललना है कहाँ गए वो छन छन मधुर गीत मधुर गीत बनाने वाला भी तू ललना बनाने वाला भी तू और ललना भी तू और उनसे प्रभावित होने वाला भी तू अच्छा है धन्यवाद है इस अंगारे को कि तेरी बेवकूफ़ी तोड़ने के लिए आंख खुलवा दी ऐसे संसार में कोई दुख शोक का अंगार आता है तो इस आसक्ति रूपी बेवकूफ़ी खुलवाने के लिए आता है तो उसे धन्यवाद डॉक्टर राधा कृष्ण तत्व ज्ञान में बड़ी रुचि रखते थे बुद्धिमान थे राजेंद्र बाबू भी धर्म के जगत में बहुत प्रेम रखते थे बड़े विश्रांति के रास्ते चलने वाले बुद्धिमान व्यक्ति थे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसे जो तत्व ज्ञान के रास्ते चलते उन्हीं लोगों से समाज का बहुजन हित आए बहुजन सुख आए उनमें नात जात पार्टी का महत्व कम होता है जैसे सारे अंग तुम ही हो तो क्या तुम हाथ हाथ की पार्टी का पक्ष लोगे कि पैर की उंगलियों की पार्टी का पक्ष लोगे <laughs> अपनी पीठ से अन्याय करोगे कि अपने पेट से न्याय करोगे अरे सारे अंग जितना आपका पेट आपको प्यार है पीठ भी उतनी जरूरी और प्यारी है जितने हाथ अपने आपके अपने हैं उतने पैर की उंगलियां और पैर भी तो आपके अपने ही हैं जब अपने आपने जान लिया कि सब मैं हूँ तो ये नख और बाल भी आप हैं पैर और पैर की उंगलियां भी आप हैं हाथ और हाथ की उंगलियां पीठ और पीठ की नस नाड़ियाँ भी आप ही हैं और उसमें बहने वाला रक्त भी आप ही सब मिला के कुल मिला के आप जैसे बॉडी है ऐसे कुल मिला के पूरा ब्रह्मांड व चैतन्य आत्मा में हूँ ऐसा जिनको ज्ञान हो जाता अथवा जो इस ज्ञान के रास्ते चलते हैं उनको ब्रह्म ज्ञानी बोलते हैं जिनको ज्ञान हो जाता है तो ऐसे पुरुषों से किसी का अहित नहीं होता ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा न भया नानक जी ने कहा ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों से किसी का बुरा नहीं होता कभी माँ थप्पड़ मारती लगता है बेटे का बुरा हुआ नहीं वो भी हित के लिए ऐसे दुर्वासा जी जैसे वशिष्ठ जी जैसे महापुरुष कभी आंख दिखाते भी हैं तारण करते भी हैं तो भी किसी का बुरा नहीं होता ओम आनंदम ओम माधुर्यम नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि एक लड़का था एक बार ऐसे हम प्रसन्न हो गए आश्रम वासियों पर ऐसा उत्तम आखिरी रहस्य का ज्ञान तो उसने वो बात पकड़ ली कि सब ब्रह्म है सब में ब्रह्म है अब आदमी केला चोरी करके केला खा लेता प्रसादी का और फिर ऑफिस में साहित्य के ऑफिस में था हवाई जहाज उसका नाम रखा था हमने श्रद्धालु था मेहनतू भी था तो जैसे और लोग आते तो ऐसे तो रहते जो तो सब सुनेंगे तो उसने सुन लिया तो वो केला छुपा के खा लेता और चिल्टे रख देता और किसी ने कहा ऑफिस में छिलटा क्यों पड़ा बोले छिलटा भी ब्रह्म है देखने वाला भी ब्रह्म है अब मैं नहीं उठाया तो तुम उठा के डाल दो सब ब्रह्म तो है और मेरे तक बात पहुंची मेरे हृदय से निकला फट हुआ ये मेरे ज्ञान का उपयोग बाद में उसका पैर टिका ही नहीं भागा इधर उधर भटका बम्बई में रेलवे स्टेशन पर टिकट की ब्लैक करके <laughs> रोटी खाता <laughs> जगह रोकता है डिब्बों में रोटी खाता है मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा बेचारा गुरु के द्वार टिकना अथवा गुरु के हृदय में जगह बना रखना ये कोई मजाक की बात नहीं है ओम आनंदम ओम अच्छा, ज्ञान पाल लिया सुन लिया ज्ञान तो अजीर्ण हो गया नहीं या पर्यंत जीवे त्रयो वंद्य ईश्वरो गुरु वेदांतोश्च जब तक जीवन है तब तक तीनों वंदनीय पूजनीय है परमात्मा गुरु और वेदांत शास्त्र जो इतना ऊंचा उत्तम ज्ञान देता है उनका आदर करना चाहिए ऐसा नहीं हो वेदांत का पुस्तक पढ़ते थोक लगा के पन्ना बदला उठा के छोड़ दिए ऐसे तो ज्ञान नहीं होता आदर बुद्धि होना चाहिए ईश्वर गुरु और वेदांत शास्त्र में पूज्य बुद्धि होगा तब ये ज्ञान टिकेगा संयम सदाचार में आदर होगा तभी ज्ञान टिकेगा आंखें यूं भागेगी ज्ञान नहीं टिकेगा दूसरा कुछ घुस जाएगा राम का रस नहीं आएगा फिर काम का कीचड़ जीवन को गलित कर देगा रियो खाद डालें लेकिन सूर्य और चंदा का प्रकाश न मिले तो खेती में फल फलित नहीं होंगे ऐसे सूरज और चंदा के किरण तो कृपा करे सूरज और चंदा खूब लेकिन किसान के बीज में अगर घुन लगी सड़ा है अथवा खाद नहीं डालता अति खाद डाल देता अति पानी दे देता है तो भी सूरज के किरण और सूर्य चंदा के किरण क्या करें तो जितना सूर्य के किरण और चंदा की आवश्यकता है उतना किसान की सावधानी बीज की व्यवस्था खाद पानी का लिमिट भी होना चाहिए थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो गया तो चल जाए अति पानी भर रखे तो बाजरी कहाँ होगी जो डांगर को पानी देना है उतना ही बाजरी के लिए रखे तो सड़ जाएंगे पौधे अब इसमें सूरज के किरण और चंदा के किरण का क्या दोष है ऐसी भगवत कृपा या गुरु कृपा में क्या दोष कर खाने पीने वाला ऐसे खाए पिएगा बनाएगा शरीर तो हाँ, तो कहीं तो एकदम भूखामारी करते थे सूरज और चंदा के किरण तो हैं लेकिन खाद पानी बिल्कुल जीरो उगेंगे पौधे लेकिन ऐसे निस्तेज फल फलित होंगे ऐसे साधक के जीवन में गुरु की ईश्वर की कृपा है लेकिन संयम नियम में जीरो है तो फिर उनके जीवन में चमक नहीं आएगी फिर भी दूसरों से जरा ठीक लगेंगे वो चमक नहीं आएगी संयम नियम रखते और ऐसा ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो भी फल नहीं होगा कई संयमी ही अच्छे हैं लेकिन ऐसा ब्रह्म ज्ञान देने वाले गुरु नहीं है तो बेचारे फिर डेढ़ सौ साल के महात्मा अच्छे संयमी है तभी तो डेढ़ सौ साल जिए मोड़ा मायड़ के पास में है सुंदरपुरा प्रारब्धों का खान पान का बड़ा संयम होगा अब क्या पता बताते हैं कोई डेढ़ सौ साल कोई बोलता उससे भी ज़्यादा है कोई बोलता उससे भी कम है तो कभी कभी प्रचार के लिए भी ऐसा हो जाता है डेढ़ सौ साल दो सौ साल बातचीत करके ट्राई किया तो कुछ थोड़ा ठीक लगा खाली सीताराम सीताराम करके नहीं जिए बोला उन्होंने ये सब मन का खेल है मन का पूर्णा है तो जगत है नहीं तो कुछ भी नहीं है हमें गए बात तो ठीक है डेढ़ सौ साल हूँ साधना या साधुताई का फल जो है वो अभी हमको यही मिल रहा है सुनने को मनन करने को महाराज राजेश्वर में कोई संदेह नहीं अपने शुद्ध स्वरूप को जानो आत्मदृष्टि से देखो तो सब एक ही है कीट पतंग आदि शूप ब्रह्म अविच्छिन्न ब्रह्माकार वृत्ति कीट पतंग में भी वो ब्रह्म है समझ में आ जाए तो अविच्छिन्न ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति क्रिया साध्य नहीं वो स्वतः सिद्ध है समझना चाहिए कीट में पतंग में अगर यार हैं तो हम हैं दिलदार हैं तो हम हैं जो दुर्जन दिखता है दुष्ट दिखता है उसका अंतकरण वैसा है लेकिन सत्ता तो उसमें वही तुम्हारे परमात्मा की है आंख पैर हाथ नाक जीवा किडनी ये अलग अलग है लेकिन सब मैं हूं ऐसे ही तो समझते हैं ऐसे आप अपने भिन्न भिन्न अंग होते हुए भी अपने को एकल मानते हैं ऐसे ही ज्ञानवान भिन्न भिन्न ब्रह्मांडों में भिन्न भिन्न सत्ताओं पर भिन्न भिन्न दुख और सुखों में जीने वाले जीवों को अपना स्वरूप मानते जैसे तुम्हारे को नाड़ियों का पता नहीं तब भी तुम्हारे हैं ऐसे अनंत ब्रह्मांड का पता नहीं तभी भी तुम्हारा ही है सब सब तुम हो ऐसा दृढ़ भाव करो हो गया ज्ञान जीवन मुक्त हो जाए सब में सब स्तुत की वजह में मुक्ति द्वैत के संस्कार घुस गए ना उसको निकालने के लिए वो उल्टे सीधे रास्ते पकड़ पकड़ के थक गए अपन लोग सीधे का सीधा रास्ता यह है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ती एको हम द्वितीय नास्ती मैं विशुद्ध हूँ विमुक्त हूँ पूर्ण आकाश से भी बढ़कर पूर्णतम सर्वव्यापक हूँ असंख्य ब्रह्मांड मुझ में पड़े हैं हाँ कैसे होगा बच्चा नहीं सुनता तो असंख्य ब्रह्मांड तुम में पड़े हैं तो एक सौ चौबीस दुकान का मालिक क्या होएगा लगाओ आग <laughs> मन से लगाओ शरीर से नहीं <laughs> चल मेरा स्वरूप निर्लिप्त है मुझे दुख से कोई डर नहीं मुझे समय की जरा भी चिंता नहीं आत्मानंद वाले को भय और आशंका कैसी संसार भर के विज्ञान तत्वज्ञान काव्य और गणित तेरे आत्मा से निकलते हैं और निकलते रहेंगे अय खुदा के ढूंढने वालों तुमने अपनी खोज से खुदा को लुप्त कर दिया है देख ले ये इलाज किया थी मर्ज बढ़ता गया ईश्वर को खोजने निकला तो ईश्वर ईश्वर की सत्ता से तो खोज शुरू हुई जिसकी सत्ता से खोज शुरू होती वहीं तो ठहर जाए जरा ईश्वर को खोज रहे हैं कहीं आकाश पाताल की चीज है कुछ ऐसा वैसा करे तब कुछ होगा कोई आएगा धड़ाका धुमाका जिसकी सत्ता से तो खोज रहा है आने की प्रतीक्षा कर रहा है वो प्रतीक्षा प्रतीक्षा जिसकी सत्ता से हो रही उसी वही तो है वो खुद <laughs> वही है खुद पे मतलब सोए और लगा के मेरी शादी हो रही है सोए खाटले में शादी हो रही है घोड़े पे चढ़ के जा रहा हूँ बैंड बजे है शहनाई हो रही है और फिर रास्ते में घोड़ा कब दौड़ाया जरा तो पड़ा हेठा तो वर राजा का इंसल्ट हो गया तो ऐसे करके खंखेरा खंखेरा तो नींद खुल गई तो हंसी आई गई अरे डोकरी तो बाजू में है लेकिन वो तो अविद्यमान था अविद्यमान था लेकिन उस वक्त सच्चा लग रहा था जो देखा है वो स्वप्न है जो देखा है जो ये स्वप्नारो वर राजा हुआ तो कहते हैं तो हुआ था क्या એ હાજર બમ નહીં લાગતો તો હાચું નહીં લાગતો તો આવું લાગતું તો હા અને આંખ ખુલ્લી તો હા એ ખોટું હે એ એ ઓ સ્વપ્ન હે ને ઓળો જ હે દેખાય ને તો મૂઈશું તો બધાને મૂઈશું એટલે એને પ્રેમ કરનો કે નહીં કરનો ઓછું કરવો છો તો બધા આપણો કર્યો આપણે તો મૂઈશું બધું તો પછી આનો હંગાથી બધા હંગાથી પ્રેમ રહો અને બિલકુલ એટલે તકલીફ મારતો થો એટલે માર તકલીફ ઢોકાવણી કે કોઈ देखो रात को स्वप्न आता है अलग अलग आदमी दिखते हैं लेकिन अपना ही चेतन अलग अलग दिख रहा है फिर जैसे आदमी ऐसा ही व्यवहार होता है टपली ठोकावणी ठोकाउनी पड़े जिधर પડે हुई है હોય એટલે ઠોકે પણ હજમે કે तो लीला हिट હિડબો કરે नहीं हजमे रात स्वप्न में स्वप्न में तो अप, अपना ही चैतन्य सेठ बन जाता है नौकर बन जाता है साहेब बन जाता है लुच्चा बदमाश सब अपन लोग देखते हैं लेकिन अपनी ही तो वृत्ति है ना अपना ही चैतन्य परमात्मा रात्रि के स्वप्न के अलग अलग जीव बन जाता है फिर किसी से स्वप्न में आइसक्रीम लेके खाते किसी को खिलाते किसी को पिया देते बदारे ठोकुए नहीं बदाती माते टूक आता नहीं है टपली ठाव पड़िया अलग अलग व्यवहार वेबो करे ओ પણ મનમાં તો હું હું કરે ઊભું નહીં શરીર ઊભું નહીં કરવું તો हाँ, बस भेज अपने के करता नहीं माना अब कोई ज्ञानी के पास आ जाए आके ज्ञानी से बदतमीज व्यवहार करे तो ज्ञानी नहीं डांटेगा उसको और आके आदर से सत्कार से बैठेगा तो ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनाएगा बस टपली आगे ठोके तो बाप रो रहा देगा लेकिन उस वक्त की अपने अनुभव हो जाता है ना फिर उधर उस समय की लहर होती है जैसे बैठे हैं ये पैर मेरा है मौज आ गई तो घुमा रहे नहीं मौज आई तो ठीक रख दे ठीक कर दिया तो भी मेरा ही है और प्यार कर दिया तो हमारा ही है हम्म, नहीं थापड़ियो अभी तो मेरा पैर है ना शरीर का छोटा अंग है गंदा अंग माना जाता है लेकिन इसको प्यार कर रहा हूँ आया धोया है चोखा है जरा हाथ घुमा रहा हूँ और कहीं गंदगी में कहीं कोई थूका बुका उधर पैर घूम गया होता फेंक भैंस को तो नीचे ही रखते अभी तो फराहली चंपल में नहा के आया बहुत नहाया इधर भी नहाया उधर भी नहाया तो पवित्र रजकणों में सीधा आया हाथ घुमा रहा हूं तो मैं हाथ घुमाया करूं कि उसको छी क्या करूं जब घुमाने के काबिल है तो घुमा लिया छी के काबिल है तो छी कर दिया सीधा दृष्टांत है नहीं थापड़ियो तो मोरे जाके तो अभी इसको मैं प्यार से हाथ घुमा रहा हूँ लेकिन कभी ऐसी भी घड़ी आती है जिसको जरा दूर से साफ करना पड़ता है कहीं ऐसे ही गंदगी में पैर चला गया था फिर ऐसा हाथ नहीं घुमाते जो अभी घुमा रहे जैसे गाल को घुमाया जाता है ऐसा इसको घुमा रहा हूं मुंह को हाथ घुमाता हूं ना ऐसा ये भी इसको घुमा रहा हूं तो उसको ऐसा हाथ घुमाता रहूं कि नहीं तो व्यवहार तीन सत्ता होती है एक व्यवहारिक सत्ता एक प्रतिभाषिक सत्ता और एक परमार्थिक सत्ता परमार्थिक सत्ता में तो ये सब तत्व है एक ही व्यवहारिक सत्ता में ये पैर है ये मुंह है ये जब साफ हो तो उससे अलग व्यवहार होगा गंदा है तो अलग व्यवहार होगा ये व्यवहारिक सत्ता है स्वप्न में प्रतिभाषिक सत्ता दिखती है तो व्यवहारिक सत्ता में व्यवहारिक व्यवहार होता है तो बराबर ज्ञानी व्यवहार में व्यवहार करेगा सज्जन से सज्जनता का करेगा रोनी से जरा आंख कड़ी करके व्यवहार करेगा अंदर में ऐसा नहीं मानता कि वो दूसरा है हम दूसरे जैसे अपना शरीर एक ही है फिर भी जैसे जैसे अंग है ऐसा ऐसा व्यवहार करना पड़ता है बाटी खाऊं तो अटे खाऊं अटे तो नहीं गालता क्या है तो मोरत शरीर के अटे नहीं गालता ना आत्मा मलंग में कौन में नहीं गालता दूध मैं तो मोर शरीर तो व्यवहार में व्यवहार हिडो करे अंदर से द्वैत भाव नहीं कि ये अलग है ये मेरा है ये कोई दूसरे किसी का है तो लूज हो गए तो પુનરહંગાથી જે વ્યવહાર હોય ને જીવ તો મનકને એવું તો કે બધું મૂઈશું તો બધો ભર પ્રમાણે વ્યવહાર નહીં તો એટલે થોડુંક મગજ રમાય એવું हाँ ठीक है ना ठीक है अभी बात हमसे इसीलिए हम बताए ना शास्त्र का ये है कि जिनको तुम अपना मानते उसमें ममता न रखो और जिनको पराया मानते उनको अपना समझ के व्यवहार करो रामतीर्थ का बताया नहीं नौकरी में से पिया आया और सामान लेके बैठ गए बोले सब में मैं हूं तो फिर सबको बांट ऐसा ज्ञान प्रैक्टिकल ज्ञान है જે હિંડો કરે તો મમતા સે હિંડો કરે નહીં મોરા સોરા મોરો શરીર તો વધારે અને બીજો રહ્યો તો મારો ચૂસો એ નહીં કરનો જેવો અપારા શરીર સુખ દુઃખ વે વેબો કરે એવો એવો બીજારે વેબો કરે જ્ઞાની અપારા શરીર દુઃખની પરવા નહીં કરતા બીજારો દુઃખ વાળે તો જ્ઞાની હૃદય પર પીકડે ભગવાન બુદ્ધ આવતા હતા એક બકરા વાળો લઈને જતો તો બકરા બકરા હતા ઘણા એક બચ્ચું હતું વણરે વાગ્યું હતું वो तो मारे मारे ले जाता तो बुद्ध के मुंह पाड़वाने हमारे दुख वे माराती नहीं बढ़ातो अशोक राजा यज्ञ करता था कि अशोक था दूसरा कोई था तो कंधे पे उठा के ले गया राजा को बोला कि इसको आप बलि देंगे इसका सिर काटेंगे मेरे से देखा नहीं जाता क्योंकि इसको तो मेरे मैंने तो जान लिया मैं नहीं मरता हूं इसलिए मेरा काट दोगे तो दुख नहीं होगा लेकिन ये तो समझता कि मैं मरता हूं इसके शरीर में मेरे को ज्यादा दुख होगा मेरे शरीर में मेरे को दुख नहीं होगा इसके शरीर में भी मैं हूं लेकिन इसके शरीर में मैं नहीं जानता हूं कि मैं ब्रह्म हूं ये शरीर में तो मैंने जान लिया इसलिए तो इसका काटने के बदले मेरा काट के डाल दे इसको छोड़ो और राजा का हृदय बदल गया वैष्णव जन तो तेने कही पीड़ पर आई जाने तो दूसरों के प्रति दूसरों में जो है ना दूसरों के प्रति आत्मीयता आत्मवत पश्चित सर्वभूतेशु अपने जैसा ही सबको जान ज्ञानी किसी का बुरा नहीं करेगा किसी का अहित ज्ञानी से नहीं होगा तुम अपने पैर का अपने हाथ का अपनी आंख का अपने शरीर के किसी पुर्जे का अहित कर सकते भले तुम सोई लेके बैठे चप्पा लेके बैठे छरा पैसा देके छरा घुमाया ऑपरेशन कराया लेकिन अहित तो नहीं सोच सकते शरीर का जैसे अपने शरीर के लिए तुम कभी अहित नहीं सोचते ऐसे ही ज्ञानी पूरे ब्रह्मांड के लिए अहित नहीं सोच सकता ठीक है अच्छा तो मन से तो आदत है साधारण आदमी तो मन माना करेगा अच्छे अच्छे तरफ तो चढ़ने की इच्छा नहीं होगा तो फिर पाप कर्म करने लग जाएंगे जब सब वही है तो हाँ तो फिर पाप कर्म करने लग जाएंगे तो फिर भगवान पाप के रूप में नरक के रूप में प्रकट होगा जब सब भगवान है सुख भगवान है तो दुख भी भगवान है तो वो तैयारी होनी चाहिए ऐसे ही पंचदशी में कहन है जिसका आत्मज्ञान हो जाता है उसको ऐसा लगता है माया रूपी मेघ और जगत रूपी पानी जैसा तैसा जितना भी बरसे तो महाकाश को क्या हानि हा? बादल ज्यादा हो पानी ज्यादा बरसो कम बरसो इससे आकाश को क्या ऐसे ही माया मेघ हो जगन नीरम वर्षते यथा तथा महाकाश थी का हानि लाभम अपी का विद्यते ऐसे ही जगत रूपी पानी कितना भी बरसो अथवा कम बरसो तो आकाश को तो कुछ नहीं मेघ किधर बरसो इधर बरसो सब आकाश के अंदर ही है ऐसे ही कई जगत बनो शुभ अशुभ है हो सब मुझ चिदाकाश स्वरूप आत्मा में है मैं आत्मा हूँ ये दृढ़ हो जाए आत्मज्ञान फिर शरीर का अनुकूलता मान हो जाए कोई जूता उछाले कोई आदर करे सब ठीक है सब वृत्ति मात्र है वृत्ति का वृत्ति विज्ञान पुस्तक पढ़ो देखो मजा आ जाएगा सब ये वृत्तियों का खेल है मैं खेल सबको खिला रहा तमाम दुनिया है खेल मेरा मैं खेल सबको खिला रहा हूँ कभी तो दिन को निकालू तारे कभी तो सूरज सरा रहा हूँ ऐसा अनुभव होता ज्ञानी का तो ऐसे तो व्यवहार में ज्ञानी सूर्य नारायण का दर्शन दर्शन और ज्ञानी तत्व में देखे तो कर हजारों सूरज ज्ञानी के पेट में व्यवहार काल में सूर्य भगवान है, है दर्शन कर तो व्यक्तिगत शरीर को लेकर वो सूर्य नारायण भगवान अपने स्वरूप के आगे ऐसे सूर्य भी कई जेब में पड़े उनके तो व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य नारायण का कृपा है उसकी कृपा से अपन जी रहे वाह लेकिन तत्व से देखा तो ये सूर्य तो क्या है इनके कई बाबा वो हमारे बच्चे हैं ऐसा ज्ञानी को अनुभव होता है ये एक सूरज तो क्या ऐसे करोड़ों सूरज अपने तत्व के आगे कुछ नहीं हो अपने स्वरूप के आगे सूरज ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी अल्लाह मियाँ खदा ताला सब अपने पेट में तत्व ज्ञान ऐसा है लेकिन कौन सुने ये बातें ये बातें दबा के रखनी पड़ती छुपा के तो कोई कोई विलरा अधिकारी होता है तब निकलता है बात हम खुद खुदा थे हमें पता न था ब्रह्मा विष्णु महेश भी अब अब आगे की बात इधर बोलने जैसी नहीं ऐसा है ब्रह्म ऐसा है बोलते हैं ये मूर्खों के बीच ऐसे ही हूं मैं ऐसा मैं ऐसा ही हूँ अनंत सूरज अनंत आकाश गंगा है कई ब्रह्मा जी मुझ में हो हो के लीन हो गए कई विष्णु मुझ में हो हो के लीन हो गए कई रुद्र मुझ में हो हो के लीन हो गए मैं वो सनातन सत्य हूँ मुझे कोई ब्रह्म कहते हैं कोई सच्चिदानंद कहते हैं कोई कृष्ण कहते हैं कोई राम कहते हैं कोई मुड कहते हैं लेकिन ये भी सब कहने मात्र को है मैं अवाच्य पद हूँ वाणी मुझ तक पहुँच नहीं सकती ऐसा मैं हूँ कृष्ण ने घोषणा कर दिया अपने स्वरूप गीता में जलों में जल में जो रस है वो मैं हूँ तो आप कृष्ण को बोला कि तुम तो रथ पे खड़े हो जल में रस तुम कैसे <laughs> कृष्ण बोलता है जल में रस में हूँ तेज में अग्नि में तेज में हूँ और सूर्य में रसो अपसु कौनते प्रभासमी शशि सूर्य हो प्रणव सर्व वेदेश शब्द खे पुरुष नृषु आकाश में जो शब्द है वो मैं हूँ तो वो तो रथ पे बैठे आकाश में शब्द कृष्ण कैसे हुए तो कृष्ण वो अपने असली मैं की तरफ इशारा कर रहे ऐसे जो कृष्ण का मैं है वही ज्ञानी का मैं है वही तुम्हारा मैं है लेकिन तुम लोग शरीर में बद गए कृष्ण और ज्ञानी अपने स्वरूप में इसलिए उनकी बात सही है तुम्हारे बीच बैठे तुम्हारे साथ बात करते करते भी ज्ञानी को वो अनंत अनंत का अनुभव होता है करती हूँ और पुष्ट करने वाला जल और खाद भी मैं मैं ही किसान हूँ और मैं ही किसान का हसिया हूँ मैं कोयल हूँ और मैं उसकी किल्लोल हूँ और सुनने वाला भी मैं हूँ मैं क्या क्या करके कौवा का स्वांग करता हूँ तो मैं मियाँ करके बिलार कर खेल करता हूँ मैं ही चूहा होकर ले भागता हूँ कुछ चीज वस्तु और मैं ही घर कुटुम्बी होकर चूहा को फंसाने का पिंजरा बनता हूँ रखता हूँ मैं ही खिसकोली और मैं ही फंसने वाला मैं ही सेवलाल और मैं ही दाढ़ी मैं ही मित्र मैं ही शत्रु सब मैं ही मैं हूँ अनादिकाल से खेल खेलते खेलते मैं अपने को भूल कर खेल ही हो गया धरतियों में बीज फोड़ने की सत्ता मैं हूँ बीज भी मैं हूँ और हाँ, बीज में पत्ते हैं टहनियाँ भी मैं बनता हूँ फल फूल होकर मैं लदा जाता हूँ और मैं ही फिर उसको खाने को आता हूँ और मैं ही भगाने वाला किसान मैं ही भागने वाला पक्षी हूँ किलहोल करते हुए और मैं ही चौंच मार के तृप्त होने का स्वांग करता हूँ हम ही बंदर हम ही शेर हम ही चूहा हम ही बिल्ली हम ही मित्र हम ही शत्रु हम ही जड़ हम ही चेतन अनादि काल से हमारी यह चेष्टा अग्नि मुझे जला नहीं सकती अग्नि को जलाने की सत्ता मेरी जल मुझे डुबा नहीं सकता जल में द्रव्यता मेरे मुझ स्वरूप ही है सूर्य में प्रकाश मैं हूँ और प्रकाश लेने वाले मनुष्य भी मैं हूँ मनुष्यों का शत्रु भी मैं हूँ मनुष्यों का मित्र भी मैं हूँ और मनुष्य भी मैं हूँ सब हाथ मेरे हाथ सब पैर मेरे पैर सब दिलें मेरी दिलें सब दिन मेरे दिन अगर यार हैं तो हम हैं दिलदार हैं तो हम हैं दुश्मन हैं तो हम हैं वफादार हैं तो हम हैं गद्दार हैं तो हम हैं सब हम ही हम एकम एवं द्वितीय हैं ऐसे सपने में हम ही अनेक रूप हो जाते और उस समय कहीं चंगा तो कहीं मंदा कहीं पेड़ तो कहीं पौधा कहीं बस तो कहीं बस का ड्राइवर तो कहीं डबल घंटी मारने वाला कंडक्टर भी न दिखता है लेकिन होता मैं ही मैं हूँ ऐसे ही मैं चैतन्य अनेक रूप में अनेक दिलों में अनेक दिमागों में अनेक भावों में अनेक रंगों में अनेक रागों में अनेक मौजों में और अनेक विपदाओं में भासता हूँ ये अनादिकाल का मेरा खेल और ये चलता ही रहेगा अनेक बार में सृष्टियां बना स्थिति रही और सृष्टियां लय हुई ऐसा भासु है मन में और मन बदले तन बदले सृष्टियां बदली ये मेरी करवटें हैं मैं वही का वही सूक्ष्म सूक्ष्म तर सूक्ष्म तम मेरा स्वरूप स्थूल स्थूल तर स्थूल तम मेरा स्वरूप मैं ही मैं अब न मुझे कोई मुक्ति है न कोई बंधन है मुझे अपने आप का पता नहीं था तो ये बंधन और ये मुक्ति मैंने संयम करके इंद्रियों को मन में लीन किया मन को बुद्धि में और बुद्धि को स्व में ला के देखा तो वो हो नाहक भटक रहा था बाहर के खान पान में नाहक घूम रहा था जैसे स्वप्न मैंने बनाया और स्वप्न की चीज़ें भी मैं था और फिर स्वप्न की चीज़ों के लिए गिड़गिड़ाने वाला मैं वास्तव में स्वप्न की चीज़ें और गिड़गिड़ाने वाला और स्वप्न की चीज़ें देने और लेने वाला मैं ही एकमात्र अद्वैत था ऐसे ही सारा ब्रह्मांड में एकमात्र अद्वैत हूँ जहाज हैं तो हम हैं और जहाज की परिचारिका हैं तो हम हैं और यात्री हैं तो हम हैं धात्री हैं तो हम हैं हरड़े धात्री कही जाती है दूसरी माता कही जाती भोजन के बाद थोड़ी हरड़े लेने से शरीर में पंच रस देने वाली हरड़े हरड़े हैं तो हम हैं और सुबह के चार गिलास भरपेट पानी पीने का आदेश देने वाले हैं तो हम हैं पानी है तो हम है और पीने वाले हैं तो हम हैं सवा लीटर सुबह पानी पी लिया स्वास्थ्य लाभ हुआ तो हम ही हैं पिस्तालीस मिनट तक कुछ खाएं पिए नहीं दोपहर को दो घंटे के बाद ही भोजन के दो घंटे के बाद ही जल पिए रात्रि का दो घंटे के बाद ही जल पिए ये नियम बनाने वाले भी हम हैं और नियम का फायदा देने वाले भी हम हैं और नियम का फायदा लेने वाले भी हम ही हम हैं सर्वोहम ब्रह्मोहम अनेको हम एको हम खुश हैं तो हम हैं राजी हैं तो हम हैं नाराज हैं तो हम हैं यार हैं तो हम हैं बेकरार हैं तो हम हैं लाडा हैं तो हम हैं और लाडी हैं तो हम ही हैं और च्याऊ म्याऊ करते हुए चुल्लू गुल्लू मुन्नू टुन्नू भी तो हम ही हैं सब हम ही हम हमारा ही अनेक स्वांग खेल दरिया में लहरियां लेते हैं नदियों में जल होकर बरस बहते हैं मेघों में बरस जल होकर बरसते हैं ओम आनंदम आनंदम सर्वोहम एक रसोहम एकोहम शुद्धोहम मुझे विषय तो विकारों की जरूर क्या मुझे भय शोक और घृणा से क्या मुझे राग और द्वेष किस बात का राग किससे करूं राग दूसरे से होता है द्वेष किससे करूं दूसरे से होता है दूसरा तो है ही नहीं मोह किससे करूं दूसरे से होता है दूसरे में मोह होता है जब मैं ही मैं हूं तो मोह कहाँ काम वासना कहाँ रही जब मैं ही मैं हूं अपने आप ऊपर काम कैसे अपने आप से लोभ कैसे अपने आप से मोह कैसे अपने आप से अहंकार कैसे अपने आप से राजकारण और कपट कैसे अपने आप की टांग क्या खींचना मैं अपने आप में भरपूर हूँ अगर दूसरा है तो उसकी टांग खींचूं दूसरा है तो उसका भला बुरा करो हम ही हम हैं आओ मानंदम आनंदम सर्व हम बस ये वैदिक चिंतन का अभाव ही सारे दुखों की जड़ है सारे राष्ट्रों की सारे प्रांतों के सारे तहसीलों के सारे व्यक्तियों के समाजों की अधोगति का एक ही कारण है कि अद्वैत ज्ञान सब में एक एक में सब की भावना और वो अद्वैत ज्ञान ज्यो ज्यो भूलते गए त्यों त्यों गरकाव होते गए राग में द्वेष में चिंता में शोक में तो गरकाव करने वाला भी तू और गरकाव होने वाला भी तू ही तू लेकिन ये खेल दुख पैदा करता है और असली समझ वाला खेल परमानंद अपने स्वभाव को प्रकट कर देता है शंकर सहज स्वरूप संहारा लागी समाधि अखंड अपारा दक्ष भी मैं और उसका यज्ञ भी मैं सती भी मैं और इनकार करने वाला भी मैं अब नहीं मानती तो उसकी मौज मौज में भी मैं ही हूँ शंकर ने सहज स्वरूप संहारा अपना सर्वव्यापक शिव स्वरूप निश्चिंत हो गए इतनी महान हस्ती भगवान शंभ सदाश और दक्ष ने कुछ का कुछ बका लेकिन दक्ष जानता मैं शिव जी को बोल रहा हूँ उनको अपमानित करना शिव जी समझ रहे हैं कि दक्ष के रूप में भी हम ही हैं तो पार्वती भी हम ही जाने की हठ भी हम ही हैं तो देवताभिमान में भागे जा रहे हैं आनंद लेने तो हम ही हैं हमारे ही स्वरूप में जैसे मेरे शरीर में मेरे बैक्टीरिया करोड़ों करोड़ों बैक्टीरिया मैं ही हूँ कोई एंटी बैक्टीरिया है कोई सहायक बैक्टीरिया है कोई बैक्टीरिया में भी कोई एकदम जल्दी पैदा होने और मरने वाले हैं तो कोई कुछ लॉन्ग लाइफ है लेकिन सब हम ही हैं तो जैसे विज्ञान की नज़र से एक शरीर में करोड़ों करोड़ों जीवाणु हैं उनकी भिन्न भिन्न चेष्टाएं हैं फिर भी कुल मिला के सब एक ही मैं हूँ ऐसा दिन रात जानते मानते बोलते ऐसे सारा ब्रह्मांड सार रूप में तत्व रूप में हम ही तो है बाल अलग है तो दाढ़ी अलग उंगलियों का शेप अलग तो अंगूठा अलग तो पैर के अंगूठा निराला तो पैर की छोटी उंगली निराली ये निरालों में भी आला तो मैं ही हूँ ऐसे जगत में सब निरालों में भी आला आला निराला सब हम ही हम हैं आओ मानंदम मानंदम शुभ समाचार मंगल घड़िया अपने आप की खबरें ऐसे ब्रह्मवेताओं के भाव में जो आते हैं उनके सारे तीर्थ हो गए वो जहाँ पैर रखेंगे वो तीर्थ जो जल छुएंगे वो गंगा जल जहाँ रहेंगे वो काशी जो वस्तु को छुएंगे वो प्रसाद जो बोलेंगे वो उनका मंत्र मूलम गुरु वाक्यम अपने महान स्वरूप को जानता है वही गुरु ओम गुरु ओम आनंदम ओम ओम आनंदम ओम गुरु ओम सर्वहम सुखोहम शांतोहम चैतन्यो हम खेत हैं तो हम हैं किसान हैं तो हम हैं खेतर वाले भी हम हैं और धेतर वाले भी हम ही हैं हमारा ही चैतन्य अनेक अनेक अनेक लीलाएं चेष्टाएं रूप और रंग साज और ताज नर्तकी और नृत्य दर्शक और दिखने योग्य तबला भी हम है तो केसियो भी हम है वीणा भी हम है तो थाप भी हम है सुनने वाले कान भी हैं और सुनाने वाले हाथ भी हम ही हैं थाप भी तो हम ही हैं थाप लेने वाले भी हम देने वाले भी थाप सुनने वाले भी हम धुम धम ओम आनंदम ओम ओम सर्वोहम दुश्मन दुश्मन कहाँ है दुश्मन हम ही थे दुश्मन के रूप में भास रहे थे जैसे सपने में सपने में हम ही होते हैं और एक तरफ दुश्मन और एक तरफ सज्जन एक तरफ अपनी पार्टी एक तरफ दूसरे की पार्टी एक तरफ पूजने योग्य और एक तरफ धिकारने योग्य ये दोनों खेल सपने में थे आंख खुली तो अरे सौ बार मेरा तेरा गरेबा मेरे हाथ आया था मगर आंख खुली तो मेरा ही गरेबा था सौ सौ बार तेरा दामन पकड़े हुए तुझे डांट रहे थे है तुम ऐसे क्यों करते ऐसे क्यों लेकिन आंख खुली तो यार हम ही हम अपने को पाया वहां दामन भी हम और शत्रु भी हम मित्र भी हम पकड़ने वाले भी हम पकड़े जाने वाली चीज भी तो हम ही थे सौंपने में ऐसे ही मौत मौत मौत कहाँ है तू मौत नासमझी से तेरा नाम हमने मौत रख दिया यमराज भी हम हैं और यम के दूत भी हम हैं मौत भी हम है तो जीवन भी हम है मौत गायब और जीवन गायब हम ही हम रह गए ओम आनंदम ओम ब्रह्म मृत्यु से डर किस बात का और जीने की वासना कहाँ रहे जीवन भी हम है मृत्यु भी हम है तो डर कहाँ और वासना कहाँ दुखाकार वृत्ति और सुखाकार वृत्ति सब मन के खेल और यह सब मुझी से पैदा होते हैं जैसे जल में से तरंग पैदा होते हैं ऐसे ही मुझी से पैदा होते हैं मैंने अपने को नहीं जाना तो मरने का भय और जीने की वासना इसी से मुझे अपने आप से दूर जाने की नादानी ने पकड़ा था तो सोच रहा था कि मैं बेटा हूँ फलाने का मैं पति हूँ फलाने का मैं पत्नी हूँ फलाने की मैं मित्र हूँ फलाने का मैं शत्रु हूँ फलाने का ये फलाना फलाना ये सारा सागर में तरंग के नाई मन में स्फुरा था जब रात होती है ये स्फुरना मुझ स्वरूप में दब जाता है तो कोई मित्र नहीं कोई शत्रु नहीं कोई पत्नी नहीं कोई पत्नी नहीं और फिर सुबह स्फुरना होता है उस फूरने के खेल से खेलते खेलते फूरने में सत्य बुद्धि हो गई इसीलिए परेशानी को पैदा किया था पूर्ण को पूर्णा जाना अपने को सर्व में माना तो कल्याण ही हो गया मंगल ही मंगल बस इसी विचारों में श्री कृष्ण तेरह साल सराबुर रहे और बाद में जब आए रण के मैदान में तो जो गुनगुनाए वो गीता बन गई सितर साल की उम्र में श्री कृष्ण चले इन उपनिषदों के सनातन सत्य में गोता मारने के लिए अपने स्थान में रहेंगे तो परिचित आएंगे द्वैत बनाए रखेंगे घोर अंगीरस आश्रम में वास में जा लगे और अपने सर्वम खलविधम ब्रह्म को श्री कृष्ण ने हस्तमलक हस्तमलकत किया हे अर्जुन मारने वाला मारने वाला सभी मैं हूँ ये जो ऋषि मुनि या योद्धा और भीष्म में और द्रोणाचार्य और ये सब दिख रहे हैं सब मुझी में है विश्व रूप दर्शन यही तो विश्व रूप दर्शन है श्री कृष्ण उसमें स्थित हो गया और तुम स्थित होना बाकी हो बाकी जो कृष्ण है वो तुम हो जो शिव है वो तुम हो जो अल्लाह है वो तुम हो और जो बंदा है वो तुम हो मंसूर हो तो तुम हो सुकरात हो तो तुम हो उनको पूजने वाले हो तो तुम हो और परेशान होने वाले हो तो तुम ही ये सारे मन की करवटें हैं सबका भला क्योंकि सब तुम ही हो भैया ओम आनंदम ओम आनंदम ओम माधुर्यम ओम स्वास्थ्यम ओम ओम ओम मंगल ही मंगल आनंद ही आनंद ओम शांति चिंतित निश्चिंत हो जाएगा भयभीत निर्भय हो जाएगा अशांत को सहज में शांति मिलेगी कपटी का कपट भाग जाएगा दोष दर्शन गायब हो जाएगा दोष दूसरे में दिखता है जब तुम ही हो तो दोष क्या नुक्त चीनी उक्त चीनी सब छू यही ज्ञानवानों की दृष्टि है यही भगवान शंभ सदाशिव की दृष्टि यही भगवान श्री राम की दृष्टि है यही जगदम्बा की दृष्टि है यही श्री कृष्ण की दृष्टि है यही भगवान गजानंद प्रभु की दृष्टि है यही लीलाशा प्रभु की दृष्टि है और यही रामकृष्ण परमहंस को तोतापुर जी ने यही दृष्टि दी थी माँ काली आई और प्रसन्न हुए काली माँ चली गई तो फिर वही उपासना और वही माँ की इंतजारी नहीं माँ है तो हम हैं और पुकारने वाले हैं तो हम हैं एकमेव अद्वितीय माँ का रूप और मेरा रूप अभिन्न था मुझे मालूम न था सब मय हो गया ब्रह्ममय हो गया यही दृष्टि शिव वाख्यचर ने पवित्र मति नामदेव को दी थी और नामदेव ने भेजा था जाओ विठल भगवान ने भेजा था नामदेव को जाओ शिव बाखेचर के पास तब तुम पक्का घड़ा बनोगे विठल भी हम हैं नामदेव भी हम हैं ऐसा ज्ञान जब पाया नामदेव ने तो नामदेव फिर पक्का घड़ा उसके पहले नामदेव तो विठल के दर्शन करते थे फिर भी संतों ने कहा कि तुम कच्चे घड़े हो श्री कृष्ण दर्शन श्री कृष्ण के दर्शन करते थे अर्जुन फिर भी कच्चे थे जब कृष्ण स्वरूप को जाने तो अर्जुन पक्के हो गए नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण वही नाराणाम समूह मिति नारम नर नारे का जो समूह रूप है वो नारायण वही चैतन्य अणु प्रमाणु में ओत प्रोत वैदराज हैं तो हम हैं औषधि हैं तो हम हैं मरीज हैं तो हम हैं और ठीक होने वाले भी हम ही हैं ये हमारा अनादिकाल का खेल है ऐसा ज्ञानवानों का अनुभव है कहाँ गया तनाव कहाँ गई चिंता कहां गई घृणा और कहां गई ईर्षा जैसे निशा स्वप्ने में भिन्न भिन्न देखकर आदमी डरता भागता और निशा टूटी स्वप्न भागा तो सारे तनाव सारे खिंचाव सारी पकड़े चल गई ऐसे ही ब्रह्म विद्यारूपी सूर्योदय होने दो अविद्यारूपी निशा को छू हो जाने दो आनंद आनंद अहम ब्रह्मास्मि धन किस लिए चाहता तू आप माला माल है सिक्के सभी जहां से बने वह तू महाटंक साल है चाह न रख चिंता न कर चिंता ही बड़ी दुष्ट है है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ मगर चाह करके भ्रष्ट है मुझे ये मिल जाए मुझे वो मिल जाए मुझे ये खाना है मुझे ये छोड़ना है मुझे ये पकड़ना है नहीं मैं अपने आप में तृप्त हो जाऊं बस मैं अपने आप को पहचान कर पूर्ण हो जाऊं फिर तो जैसे दिया जलता है तो ऑक्सीजन लेने भागता नहीं ऑक्सीजन अपने आप खींचकर उसके आगे आ जाती पतली हवाएं जाती तो और हवाएं आ जाती ये अनादिकाल से मेरा सिस्टम है मेरा स्वभाव है प्रकृति का खेल जैसा मैंने रचा है सेट किया है ऐसा चलता रहता है इस प्रकार का ज्ञानवानों का अनुभव है जिज्ञासुओं को ऐसा मनन करना योग्य है उत्तम आचार पवित्र और संयम जीवन संयमी जीवन तो इस ज्ञान निष्ठा में टिका देगा ब्रह्मचर्य का पालन सदाचार का पालन सद्गुणों की वृद्धि दुर्गुणों का विनाश तो स्वस्वरूप में टिका देगा दुर्गुणों का पोषण और सद्गुणों की बेपरवाही तो फिर दुष्परिणामों में धकेल देगा सद्गुणों का पोषण और दुर्गुणों का विनाश तो सत्य स्वरूप में टिका देगा सत्य शाश्वत है दुख शाश्वत नहीं सुख शाश्वत नहीं सत्य स्वरूप जिस सागर से तरंग मैले और साफ तरंग उछलते कूदते हैं तरंग नश्वर है लेकिन सागर का गहरा उदधि उनके अपेक्षा शाश्वत ऐसे सागर जिसमें लहरा रहा है वो सागरों का सागर आकाश रूप चिदानंद आत्मा शाश्वत है वही परमेश्वर पूजने योग्य आराधने योग्य और जानने योग्य है और उसको जाना तो वही हो गया सो जाने जासुदेह जना ही जानत तुम ही तुम ही हो जाए सचिदानंद को जानने वाला सचिदानंद हो ही जाता है ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है क्योंकि हाँ। स्वप्न दृष्टा को जानने वाला स्वप्न दृष्टा पहले ही था ये भी हम ही हैं तो आनंद है तब तो तेरे के ध्यान कर रही है खटपट हो गए हमने परेशानी पैदा कर दी हाँ, ये ये अच्छा है हमने आसक्ति बना ली बेकार है हट जाए हमने नफरत बना ली लेकिन अच्छा और बुरा मन की वृत्ति वास्तव में हमारा ही खेल है हम ही है आनंद ही आनंदम माधुर्यम माधुर्यम रूपम मधुरम दृश्यम मधुरम नृत्यम मधुरम निखिलम मधुरम अखिलम मधुरम मधुरादि पते मधुरम मधुरम कृष्ण का वो मुकुट भी मधुर तो उनकी बंसी भी मधुर उनका नृत्य भी मधुर तो उनकी चाल भी मधुर क्योंकि अपने मधुर स्वरूप को पाए हुए तो सब जगह मधुरता ही छिटकती गाय ऐसे मधुर को देखकर विवल हो जाती है चारा चरना भूल जाती है बछड़े दूध पीना भूल जाते हैं ग्वाल गोपिया हाँ, अपना घर का काम भूल जाते हैं क्योंकि मेरे तेरे की भावना को चीर कर स्वस्वरूप में ले जाने वाले निगाहें श्री कृष्ण की पड़ती हैं तो वो जो आनंद वो जो आकर्षण वो जो शांति और जो वो अमृत है उसके आगे ये वो मेरा तेरा में का क्या रखा है प्रतिदिन ऐसे आनंद स्वरूप ईश्वर में डूबना चाहिए फिर मेरा तेरा सब अपने आप ठीक होता जाएगा ठीक और बेठीक की आसक्ति भी हट जाएगी आसक्ति हटी तो ठीक ही ठीक हो गया और आसक्ति बनी तो सारा ठीक भी बेठीक हो जाएगा मिटा आसक्ति काट बंधन अविद्या के छोड़ चिंता बड़े शर्म की बात है कि मनुष्य जन्म पाकर भी चिंतित भयभीत और परेशान रहे चिंतित भयभीत और परेशान तो वे रहे जिनके माई बाप मर गए और निगुरे हैं तेरा माई बाप तो तेरा सच्चिदानंद परमात्मा तेरा साथ कभी नहीं छोड़ता और गुरु का ज्ञान तूने लिया है फिर क्यों फिक्र करता है जो होगा देखा जाएगा अपनी ओर से तो प्रयत्न ठीक से कर परिणाम की इच्छा न कर अपने आप में तृप्त रहो सारे बुरे दिन छू हो जाएंगे सारे अब सुकन सुकनों में बदल जाएंगे अब तुझे तो ये इसकी परवाह क्या सुकन है तो हम हैं अब सुकन है तो हम ओम आनंदम ओम आनंदम सर्व का भला सर्व में एक एक में सर्व आलस्य प्रमाद झाड़ फेंक बेमानी कपट झाड़ फेंक किससे कपट किससे बेईमानी किससे दुख किससे सुख भाव आनंद सब गुजर रहा है बीत रहा है खेल मात्र है फिल्म के कौन से चित्र को फिल्म पर्दे के कौन से चित्र को अच्छा और बुरा करके तुम थाम सकते वो तो बीत ही रहा है ऐसे ही सारे दिन बीत ही रहे सारी गरीबी अमीरियां गुजर रही है ओम मानंद मानंद पर्दा सत्य है दृश्य मिथ्या है रवाना होने वाला ऐसे ही जिस चैतन्य रूपी पर्दे पे देखता है वो साक्षी सत्य है और जो देख रहा है वो सब स्वप्न है चैतन्य प्रभु आत्मा अपना है ओम आनंदम आनंदम मौज ही मौज कुछ बाकी रहता है तन सुखा है पिंजर की ओ धरे रैन दिन ध्यान तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान यदि ज्ञान हो तभी मोक्षा जब ये ज्ञान हो तो उसी समय मोक्ष मुक्ति बंधन गए नहीं ज्ञान न सदृशम पवित्रम ही विद्यते ज्ञान के समान कोई और जगत में पवित्र नहीं दुनिया में बहुत चीजें पवित्र हैं लेकिन आत्मज्ञान पवित्र करने वाले वस्तुओं को पवित्र करने वाले तीर्थों को भी पवित्र करने वाला है पवित्राणाम अभी पवित्र शुद्धाणाम भी शुद्ध मित्राणाम भी परम मित्र मित्रों का भी परम मित्र ये ज्ञान है आत्मज्ञान परमेश्वरीय ज्ञान ये भगवतीय ज्ञान है भगवतीय धर्म है एक होता है आचार्य धर्म आचार्यों ने चलाया हुआ पैगंबरों ने चलाया हुआ मनुष्यों ने चलाया हुआ धर्म उसको मत मतांतर बोलते और ये है ईश्वरीय धर्म ऐसा हमने सुना है ईश्वरीय धर्म इसमें सबका भला है तुम्हारे व्यवहार से पड़ोसी को परेशानी तो नहीं होती चलते फिरते जीव जंतुओं को कहीं चोट तो नहीं लगती जितने दया के स्थान है उस सब में ज्ञानवान दया की खान है जैसे जितने जलाशय हैं उन सब जलाशयों में समुद्र जलाशय की खान है ऐसे जितने भी शुभ हैं उन सब शुभों की खान ज्ञानवान होता है यह वह ज्ञान है ओम आनंदम ईश्वरीय ज्ञान ईश्वरीय धर्म वह हर देश में हर काल में हर जाति में सबका भला करने वाला यही ज्ञान है अपनी ढपली अपना राग अपनी डिमडिम अपना वाड़ा मत पंथ मजहब ये सब इस ज्ञान में मिला दो तो जब आनंद ही आनंद हो जाए विश्व बाला कहाँ बचता है परेशानी कहाँ बचता है शोक मोह ये वो जब सब में आए एक देखा तो कपट कूर तनाव शोषण किससे सारी गरीब गरीबों की गरीबी गायब अमीरों का अहंकार और टेंशन गायब सत्ताधीशों का टेंशन गायब मुसीबत वालों की मुसीबत गायब एक आत्मदृष्टि सारे दुखों को स्वाहा करने वाली है स्वप्न में कितने भी अच्छे बुरे सपने देखो तो तनाव तो बना रहता है आंख खुली तो छू अच्छी चीजों को पाने का फिक्र रहता है बुरी चीजें हटाने की परेशानी मौजूद रहती है मित्र के एहसान से दबाव बना रहता है और शत्रु के विरोध से तनाव बना रहता है और सपना टूटा कि सारी चीजें छू ऐसे ही द्वैत का सपना टूटा तो सारी चीजें छू कितना आनंद विनोद मात्र व्यवहार एनो ब्रह्मनिष्ठ प्रमाण आखा भगत ने का आखा भगत ने तो सुंदर चाव के लगाए हैं भूले भटके चित्तों को सावधान करने के लिए उस महापुरुष ने बहुत अच्छी बात कही अखो कहे अंधारो कुओ झगड़ो मटाड़ी कोई ना मुओ ये द्वैत जो है अंधारा अंधेरा कूप है ये सब सेट करके सारे झगड़े निपटा के आराम से कोई नहीं मरा द्वैत को माथे लेकर जब जब आराम से जिया और आराम से मरा तो वो अद्वैत भाव से ही नरसिंह मेहता ने भी बहुत ऊंची बात कही अखिल ब्रह्मांड मा एक तू श्री हरि जूजवे रूपे अनंत भाषे नरसिंह मेहता ने यह भी कहा जहां लगी आत्म तत्व चीनियो नहीं